कसमी वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या कसमी वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या होगा मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी न तू बच पा नमस्कार आज आपसे बात करने के लिए आया हूं तो सबसे पहले माफी मांगना चाहता हूं इस बात के लिए कि मैंने जो वादा किया था कि मैं एक या दो एपिसोड के बाद वृद्धाश्रम के संबंध में जो फीडबैक मिला है वो आपके साथ साझा करूंगा मगर हम ये काम कर ना पाए हमें इसमें थोड़ी देर हो गई उसकी वजह है आ, ये मत समझिएगा कि मैं कोई आ, कोई बहानेबाजी कर रहा हूं मगर बात यह थी कि मैं कुछ लोगों के फीडबैक और आने का इंतजार कर रहा था क्योंकि आ, बहुत से लोगों ने बातें तो की मतलब फोन पर बात किया ऐसे मिलने पर बात किया मगर उसके साथ में लिखित कुछ भी कमेंट नहीं आया तो मैं उनकी बातों से एक्चुअली कुछ बातें कुछ चीजें तो निकाल सका मगर मैंने जब उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कहा भेजेंगे मगर भेज नहीं पाए कुछ व्यस्तताएं रही होंगी तो मगर खैर तो मेरे पास कमेंट्स आए हैं लोगों के और मैं वो आज आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं मैं ये बता दूं कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कौन से कमेंट किसके हैं मगर जो हमारे साथी जिन्होंने उसको भेजा है वो तो समझ ही जाएंगे और जिन्होंने नहीं भेजा यानी जो सुन रहे हैं वो केवल ये समझिए कि आपके आपके विचार के परिप्र को दूसरे लोग किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो अब देखिए सबसे पहले मेरे एक मित्र ने कहा कि यदि माता पिता यानी कि कोई भी वृद्ध व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से वृद्धाश्रम जाते हैं तो उसमें कोई स्टिग्मा नहीं देखिए यहां पर मैं आपको स्टिग्मा की बात करने से पहले यह बता दूं आपको याद होगा कि मैंने सारी बात का लुबाब यह कहा था कि वृद्धाश्रम जाने में आ, कुछ लाभ हैं और कुछ हानियां हैं मगर वृद्धाश्रम जाने में कुछ एक मानसिक ब्लॉक है मेंटल ब्लॉक है और वो मेंटल ब्लॉक का कारण दोनों पक्षों के लिए दोनों यहां मैं दो पक्ष इसलिए बोल रहा हूं कि एक पक्ष तो वो है यानी कि वो वृद्ध जो जा रहे हैं और दूसरा पक्ष वो है वे लोग जिनको इन वृद्धों की देखभाल या साज संभाल इसकी जरूरत में इसको करना जिनकी जिम्मेदारी मानी जाती है मैं जिम्मेदारी का शब्द जो ला रहा हूं वो एक एक सामाजिक परिवेश के कारण ला रहा हूं क्योंकि सामाजिक परिवेश के हिसाब से जो परिवार के वृद्धजन हैं उनकी देखभाल की वृद्धावस्था में जिम्मेदारी परिवार के यंग लोगों पर यहां मैं माता पिता का जिक्र नहीं कर रहा हूं क्योंकि माता पिता के अलावा भी परिवार में और लोग हो सकते हैं ऑब्वियसली माता पिता तो हैं तो मैंने कहा था कि यदि वृद्ध वृद्धाश्रम में जाते हैं तो ये स्टिग्मा किसके ऊपर होता है उनके ऊपर जिन्हें उनकी जिम्मेदारी का बोझ है जिनके ऊपर या उन वृद्धों के लिए यह स्टिग्मा है कि साहब वो अपने घर में नहीं रह पाए और किसी न किसी कारण से उनको वृद्धाश्रम में जाकर रहना पड़ा तो हमारे एक मित्र ने तुरंत एक छोटा सा कमेंट दिया उसमें उन्होंने कहा कि यदि वृद्ध अपनी स्वेच्छा से वृद्धाश्रम जाते हैं तो उसमें कोई स्टिग्मा नहीं है स्टिग्मा तब है जब उन्हें जबरदस्ती उनकी संतान या कोई भी जो जिस पर उनकी जिम्मेदारी है वो वृद्धाश्रम भेजे उनकी मर्जी के खिलाफ तो इसमें स्टिग्मा है तो यहां पर मैं फिर से एक बार अपनी बात स्पष्ट कर दूं कि मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट था जब अगर जबरदस्ती भेजा गया तब तो फिर वो स्टिग्मा और नॉन स्टिग्मा का सवाल ही नहीं उठता जब अपनी मर्जी से कोई जाता है तब उस समय स्टिग्मा का प्रश्न उसके दिमाग में भी और दूसरों के दिमाग में भी उठता है अच्छा अब हमारे एक और साथी ने हमसे कहा कि आज का आज वृद्धाश्रम का विषय बहुत सामयिक है क्योंकि और स्टिग्मा क्यों है इसका इसका कारण यह है केवल उन्हीं लोगों के बारे में बात किया गया जो आर्थिक दृष्टि से सक्षम हैं क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो संपन्न नहीं हैं और अपने बाल बच्चों या परिवार के अन्य सदस्यों की आर्थिक अक्षमता के कारण वृद्धाश्रम में रहने जाते हैं और उन वृद्धाश्रमों में जहां पर वो लोग जा रहे हैं वहां पर स्थिति अत्यधिक दयनीय होती है क्योंकि वहां दवाइयां और खाना तो दूर की बात कपड़े बिस्तर स्वास्थ्य के कुछ भी नहीं मिलता तो उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं लखनऊ के दो वृद्धाश्रमों में ये दशाएं देखी हैं जो कि वृद्धाश्रम सरकारी संरक्षण में भी है तो अब सवाल यह है कि उन्होंने यहां पर एक कोटेशन दिया है कि निर्बल के तो दलराम है सॉरी बलराम है तो निर्बल के तो बलराम ही रक्षक हैं और कोई रक्षक है नहीं अब चाहे वो वृद्धाश्रम में जाकर रहे या कहीं भी रहे हां मेरे मैंने जो विचार रखा था कि कॉलोनी में डेटाबेस तैयार किया जाए ऐसे लोगों का जो कि मदद चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि हां साहब ये विचार अच्छा है और इसको प्रैक्टिस में लाया जा सकता है अब हमारे एक और मित्र हैं उन्होंने कहा अब उनका मैं कमेंट पढ़ रहा हूं उन्होंने कहा कि परिवार को जितना संभव हो उतना करीब रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए मगर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि परिवार में प्रत्येक व्यक्ति जैसे रहना चाहता है उसको वैसे रहने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति अलग तरह से सोचता है प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक ओपिनियन या राय होती है जो कि दूसरे व्यक्ति से फर्क भी हो सकती है और उन्होंने कहा कि ये फर्क सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए और वेलकम होना चाहिए एक्चुअली एक्सेप्टेबल से ज्यादा उस फर्क को वेलकम करना चाहिए बिकॉज वो एक ही बात को दूसरे परिप्रेक्ष्य से दिखा रहे हैं फिर उन्होंने कहा कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट और लव ये दो चीजें हैं जो परिवार को एक साथ रखती हैं किसी भी किस्म का डर यानी fear should not be there उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग अगर हमें मतलब यदि हम सक्षम हैं तो हमको हायर्ड हेल्प लेनी चाहिए और ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि family members should take care क्योंकि अगर आप किसी पर बर्डन हो जाएंगे तो डेफिनेटली शायद uh, अगले को मुश्किल लगे तो यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो परिवार में रहते हुए ही आप हेल्प हायर कर लीजिए और बर्डन मत बनिए फिर साथ में उन्होंने कहा कि भाई जो कर सकते हैं अभी जिनको आवश्यकता है देखे लीड बाय एन एग्जाम्पल फिर इसी बात को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बताया कि भाई अब आपके पास जो धन संपत्ति है वो आप अपने साथ तो लेकर जाएंगे नहीं तो अगर जो उसका उपयोग आप अपने लिए ही कर लें तो बेहतर होगा अच्छा फिर उन्होंने कहा कि भाई देखिए अक्सर क्या होता है कभी कभार बच्चों के साथ में या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ में कुछ मतलब अनबन होती है फ्रिक्शंस होते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है वो क्यों होता है वो आखिरकार वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो बचपन से चली आ रही है मगर उसका उसकी सीरियसनेस बढ़ जाती है जबकि बच्चों की शादियां हो जाती हैं तो आखिरकार वो क्या चीज है जो बदल जाती है जबकि शादियां हो जाती हैं वो क्या चीज है जो कि किसी भी वृद्ध या एल्डरली के मन में एक इनसिक्योरिटी ले आती है तो इस पर हमारे उन मित्र का कहना यह है कि वो इनसिक्योरिटी हमारे अंदर होती है कि हमको यह लगता है कि हमने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया है तो उन्होंने ये एक बेसिक फेनोमेना उन्होंने हम लोगों को याद दिलाया हमारे मित्र ने उन्होंने कहा कि भाई आप अगर प्यार देंगे तो आपको प्यार मिलेगा मगर सबसे पहली जरूरत यह है कि प्यार देने की शुरुआत आपको करनी होगी उसी तरह से अगर आप ट्रस्ट देंगे तो आपको ट्रस्ट मिलेगा तो मगर यहां भी उन्होंने ट्रस्ट देने की जिम्मेदारी उस वृद्ध पर रखी है कि भैया आप ट्रस्ट देना शुरू करिए ट्रस्ट करना शुरू करिए और तब आपको ट्रस्ट मिलेगा प्यार मिलेगा तो उनका कहना यह है कि भैया क्लोज फैमिली मतलब फैमिली को फैमिली जैसा रहना चाहिए जहां पर कि आप को मदद मिल सके और यदि जरूरी हो तो आप भी मदद कर सकें क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद यूं तो हमेशा ही मिलता रहेगा परंतु यदि वो साथ हैं तो वो आशीर्वाद और अच्छी तरह से मिल सकेगा अब इसमें एक और हमारे पास पर्सपेक्टिव आया उन्होंने कहा कि भाई हर बात यह है कि ये जो डिस्कशन है इसमें एक बात यह है कि confining it to people who have enough to live comfortably यहां पर एक्चुअली उनका कहना यह है कि साहब असिस्टेड लिविंग का कॉन्सेप्ट है असिस्टेड लिविंग में आपके पास काम के लिए मतलब आपके पर्सनल काम के लिए लोग हैं अवेलेबल तो अब ओल्ड एज होम में जाने में और घर में रहने में क्या डिफरेंस क्या है कि बच्चों के साथ जब आप रह रहे हैं यानी कि जब आप परिवार के साथ रह रहे हैं तो यहां पर कंट्रोल किसके हाथ में है कंट्रोल आपके हाथ में है या ये कंट्रोल कहीं और चला गया है तो अब इस कंट्रोल का सारा चक्कर है तो अब अगर आप अपने हाथ में कंट्रोल रखते हैं या बच्चों के हाथ में कंट्रोल रहता है ये तो अब आपके ऊपर है तो इसमें उनका सुझाव यह है कि जब तक आप मैनेज कर सकते हैं यानी जब तक आप इतने स्ट्रांग हैं तब तक तो आप मैनेज कर लीजिए मगर जब एक बार आप वीक हो जाएं और आप किसी पर डिपेंडेंट हो जाएं तो आ, मतलब एक आपको किसी और की मदद की जरूरत पड़ेगी यानी कि आप डिपेंडेंट हो जाएंगे और डिपेंडेंट होना किसी को भी पसंद नहीं आता है तो अब सवाल यह है कि भाई आप आज प्यार देना शुरू करें और आज ही प्यार मिलना शुरू हो जाए ये तो जरूरी नहीं है तो इसके लिए जरूरी यह है कि अगर आपने शुरू से प्यार दिया होगा तो अब प्यार आपको मिलेगा ही मिलेगा और सवाल यह है कि भाई हमने जो कुछ दिया है तो वो मिल भी सकता है हमको वापस मगर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है तो इसके लिए उन्होंने कहा मानो तो मैं गंगा मां हूं और वरना बहता पानी हूं फिर उन्होंने एक और लाइन कोट किया कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी अब कुछ इसमें बात क्या हो गई कि उनका कहना यह है कि भाई अगर आप बच्चों के या किसी के साथ रह रहे हैं तो आप उनके कंट्रोल को उनकी मदद को उनके ध्यान देने को किस नजरिए से देख रहे हैं तो ये तो आपके ऊपर है कि भाई आप उसको कंट्रोल समझते हैं तो ठीक है कंट्रोल है और अगर आप उसको समझते हैं कि ये केयर है तो वो केयर है यानी कि मानो तो मैं गंगा मां हूं और वरना बहता पानी हूं अब इसमें एक हमारे मित्र हैं उन्होंने कहा कि साहब ये जो चर्चा है वृद्धाश्रम वाली इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि बड़े बड़े लोग भी वृद्धाश्रम में गए हैं और ये जहां तक सवाल स्टिग्मा का है तो भैया स्टिग्मा की बात क्या टीएन सेशन साहब भी रिटायर होने के बाद वृद्धाश्रम में चले गए थे तो उन्होंने ये आशा व्यक्त की है कि शायद यह स्टिग्मा का प्रश्न वृद्धाश्रम में के लिए मतलब वृद्धाश्रम के संबंध में अगली पीढ़ी में आए ही नहीं क्योंकि अगली पीढ़ी तक शायद ये एक स्टैब्लिश्ड सिस्टम हो जाएगा अब हमारे एक और हमारे गुरुजन ने हमको एक ये स्टेटमेंट भेजा है मैं उस स्टेटमेंट को वैसे का वैसा ही पढ़ रहा हूं उन्होंने कहा कि एज रिगार्ड्स स्टिग्मा ये तो परसेप्शन की बात है कि लोग क्या कहते हैं उनका उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे बैंक में किसी मतलब वो भी बैंक के सीनियर अधिकारी हैं तो उन्होंने कहा कि बैंक में किसी जमाने में बड़े बाबू used to be a very senior मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन और पावरफुल पर्सन होता था यानी वो छुट्टी वगैरह देना और इस तरह की बहुत सी चीजों का मालिक वही होता था अब कुछ साल के बाद जब वो बोले कि वो ट्रेनिंग सेंटर में चले गए और उस ट्रेनिंग सेंटर में उन्होंने बड़े बाबुओं के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और उस प्रोग्राम में उन्होंने पूछा कि भाई पार्टिसिपेंट से यानी कि जो बड़े बाबू लोग थे जो आए थे तो वहां पर पार्टिसिपेंट्स ने बताया कि अरे साहब ऐसा तो बिल्कुल नहीं क्योंकि पार्टिसिपेंट्स खुद अपने आप को पावरफुल नहीं समझते थे और कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि साहब हमारा डेजिग्नेशन ही बदल देना चाहिए हम हेड क्लर्क कहलाना ही नहीं चाहते उन्होंने कहा कि हेड क्लर्क जो है वो तो एक गाली जैसा शब्द है वैसे देखिए आज के जमाने में तो क्लर्क शब्द ही शायद अब इस्तेमाल में नहीं है तो हेड क्लर्क की तो बात ही छोड़ दीजिए यहां पर सवाल यह है कि परसेप्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और ओल्ड एज होम का उससे कुछ लेना देना नहीं है अब उनका कहना यह है कि perhaps now the world old और age itself is not like जैसे हेड क्लर्क जो थे वो हेड क्लर्क ही कहलाना नहीं पसंद करते थे तो उन्होंने कहा ओल्ड एज तो भूल ही जाओ वृद्धाश्रम तो भूल ही जाओ ये तो कहो ही मत उन्होंने कहा एल्डर या बुजुर्ग ये टर्म भी जो एल्डरली हैं वो नहीं पसंद करते यहां पर आपको ये बता दूं कि अभी एक दिन मेरे घर में एक दालमोट बेचने वाला आया तो उसे मैंने खरीद दी उससे दालमोट और उसने जब दालमोट मुझे दी तो बोला साहब ये ज्वार की बनी है और आपके जैसे एल्डरली लोगों के लिए अच्छी है आपको हाजम हो जाएगी यार मेरा सच में मन किया कि वो दालमोट उसको वापस कर दूं क्योंकि एल्डरली सुनते ही मैं खुद को एल्डरली मानने को तैयार नहीं था हालांकि अब आप बताइए साहब सड़सठ साल की उम्र में एल्डरली कह रहा है तो वो तो कोई गलत बात नहीं कह रहा था मगर मैं अपने मन में तैयार नहीं था तो अब यहां पर क्या है कि जो बहुत कंजर्वेटिव फैमिलीज हैं वहां पर तो शायद लोग एल्डरली या बुजुर्ग सुनने को तैयार हों मगर ये मानने को लोग तैयार नहीं है और आजकल हम ज्यादातर क्या मानने को तैयार होते हैं वो दीपक चोपड़ा साहब ने एक रिसर्च किया जिसमें कि उन्होंने ये कह दिया कि अभी सत्तर साल की उम्र तो है वो मिडिल एज है तो भैया हम वही मानने को तैयार हैं कि अभी हम मिडिल एज में हैं तो हम अभी ओल्ड एज होम की बात क्या करें अच्छा फिर उन्होंने हमारे साहब ने जिन्होंने ये लिखा है उन्होंने बताया कि if people again start living like Mahabharata heroes and start living long the definition of age itself में गो ए चेंज और ये, ये मिशन पे शायद हमारे स्वामी रामदेव जो है वो चल रहे हैं मगर खैर ये तो हंसी मजाक की बातें हुई इम्पोर्टेंट ये है कि जो रेलिवेंस है वो इंटरडिपेंडेंस पर इंडिपेंडेंस नहीं इंटरडिपेंडेंस पे होनी चाहिए हम लोग we have already drifted towards an individualistic society from a family oriented society अब आदमी तो सोशल एनिमल है और उसको सिक्योरिटी चाहिए फिजिकल सिक्योरिटी इमोशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी अब सवाल यह है कि emphasis on physical and economic is increasing rapidly and emotional security is getting neglected. Maybe the individual human aspirations are rising together with opportunities too in a highly globalized world and this account for relationships getting a back seat in modern scheme of things. यहां पर सवाल यह है कि जो बात रखी गई कि हम लोगों ने इमोशनल सिक्योरिटी की नीड को थोड़ा सा पीछे कर दिया है इसको बैलेंस करना पड़ेगा वरना सक्सेस तो मिलेगी but at the cost of happiness old age home कहिएगा असिस्टेड लिविंग कहिएगा जो भी कहिएगा उसके लिए एक सोशल मूवमेंट आवश्यक है जिसमें सेंसिटिविटी काइंडनेस कंपैशन और लव ये चार चीजें एक साथ होनी चाहिए physical comforts they are different altogether मगर सेंसिटिविटी काइंडनेस कंपैशन और प्यार ये चीजें ऐसी हैं जिनकी जरूरत शायद बहुत से लोग बोलकर बता नहीं पाते उसकी अपेक्षा करते हैं उसकी उम्मीद करते हैं कि हमको ये मिलेगा तो हम ये जो तथा कथित वृद्धाश्रम की बात कर रहे हैं उस वृद्धाश्रम में क्या ये चीजें हैं क्योंकि पहले अभी जो हमारे मित्रों ने पहले कहा कि परिवार में रहना है तो परिवार में आपको मिलता क्या है सेंसिटिविटी काइंडनेस कंपेशन और लव यही चीजें क्या हमको फिजिकल कंफर्ट के साथ साथ वृद्धाश्रम में मिलती हैं मिल सकती हैं तो अभी कि, किसी ने ये ये ये भी एक बात कही गई है कि स्विट्जरलैंड में there is a system of service account या मतलब उसके जैसी ही कोई चीज है जहां पर कि आप प्रतिदिन कुछ घंटे या हफ्ते में कुछ घंटे कहीं एक एल्डरली के साथ समय बिताइए यहां पर वो वो व्यक्ति अपनी ओल्ड एज में जब उसको मदद चाहिए तो अपने उस अकाउंट से निकाल सकता है कि भैया जितने घंटे उसने सेवा की थी उसको कोई और उतने ही घंटे दे दे तो ये वही coffee on the wall type का कॉन्सेप्ट है कि भाई आप जाइए और दो कॉफी का पैसा दीजिए एक कॉफी पीजिए और एक कॉफी वॉल पर टांग दीजिए और कोई भी आदमी जिसको जरूरत है वो उस कॉफी के स्टिकर को लेकर के यानी वॉल पर जो कॉफी अवेलेबल है उससे कॉफी पी सकता है ये सब विदेशी कॉन्सेप्ट है मगर मुझे पता नहीं शायद हिंदुस्तान में भी लागू हो गए होंगे अब यहां पर सवाल यह है कि अगर जो मदद कर सकता है वो मदद करे हमारे गुरुद्वारा सिस्टम जो है वहां पर ये भी सोसाइटी का ही हिस्सा है वहां पर आप जाइए वहां पर आप ये देख सकते हैं यही सिस्टम मैं जहां एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल है वहां पर भी है कि आप वहां पर चाहें तो एक उनकी फीस है अगर आप चाहें तो आप डबल फीस दे सकते हैं क्योंकि आपकी फीस आपने दे दी और आपने किसी एक अनजान व्यक्ति की भी फीस दे दी तो अब आप चाहें या ना चाहें ओल्ड एज होम्स तो आज एक रियलिटी हैं वो जरूरत भी हैं अब केवल इतना ही उम्मीद की जा सकती है कि ओल्ड एज होम में आपको सेंसिटिविटी काइंडनेस कंपैशन और प्यार मिले और उस चीज के लिए मैं यहां पर अब सिर्फ अपनी सारी बात को समाप्त करते हुए यही कहूंगा कि हमारे जो भी फीडबैक आए हैं उसमें ये एक सबसे बढ़िया बात निकली है कि सबने स्वीकार किया है कि ओल्ड एज होम या वृद्धाश्रम रियलिटी है वास्तविकता है अब सवाल यह है कि वास्तविकता में जाने में यदि वहां पर सेंसिटिविटी काइंडनेस कंपेशन और लव उपलब्ध है तो हमको फिर वहां जाने में स्टिग्मा किस बात का है ये मेंटल ब्लॉक किसी ना किसी तरह से खत्म तो करना ही होगा और हमारे एक मित्र ने जिन्होंने लिखा कि साहब जब तक सक्षम हैं तब तक मत जाइए जब अक्षम हो जाए तब चले जाइए यहां पर मेरा कहना सिर्फ यह है कि इसमें सक्षमता अक्षमता को हम एक किनारे रख दें और अगर जो हमने ये तय कर लिया है कि हम कम्युनिटी में रहना चाहते हैं तो देख लीजिए ऐसी कम्युनिटी जहां पर आप जाना चाहे वहां जाइए मगर अब सवाल यह है कि यदि आपको अपने घर में रहकर ही वैसी कम्युनिटी मिल जाती है तो आप वहां रहिए तो ये है साहब सारी बातें और इसमें केवल इतना ध्यान रखिए कि इन सारी बातों का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको मेंटल ब्लॉक्स को खोलना होगा मेंटल ब्लॉक्स को हटाना होगा और मेंटल ब्लॉक्स केवल तभी हट सकते हैं जब हम ये तय कर लें कि भाई ये चीज अच्छी या बुरी नहीं है ये चीज आवश्यक या अनावश्यक है क्योंकि जब हम आवश्यक के साथ में अच्छाई और बुराई जोड़ देते हैं तब स्टिग्माज सामने आने शुरू हो जाते हैं तो मेरे को लगता है कि मैं इस बात को यहीं पर समाप्त कर दूं और मैं आपसे ये सिर्फ कहना चाहूंगा कि यदि अभी भी आपके मन में कोई और नया विचार आता हो तो आप अवश्य उसे मेरे साथ शेयर करें और हम लोग उसको साथ में साझा करेंगे बातें करेंगे उसके बारे में हमारा ट्विटर हैंडल तो आपको पता ही है हमने एट द रेट हमने एक बात कही H U M N E E K B double ए टी के ए एच आई हमने एक बात कही पर आप अपनी बातें कह सकते हैं और वैसे भी आप जानते हैं कि आप व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर कहीं भी आप मुझे बात कर सकते हैं बता सकते हैं इसके साथ ही वृद्धाश्रम पर हम अपनी बातें यहीं पर बंद करते हैं अब कोई विचार आएगा तो हम लोग फिर इस पर कभी बात चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और अगले हफ्ते एक नए विषय पर हम चर्चा शुरू करेंगे और चलिए छोड़िए अभी उस विषय की चर्चा इसी हफ्ते से क्यों शुरू की जाए अगले हफ्ते की बात अगले हफ्ते बातें करते रहिए तभी बातें होती रहेंगी बातें करना बंद कर देंगे तो भैया बात बंद हो जाएगी और बात बंद हो जाना ये अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है तो बातें करते रहेंगे हमारी बात आप सुनेंगे और आपकी बात हम सुनेंगे नमस्कार सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे दुख में सब मुख मोह